في الكلام مسابقته لمقتضى الحال हाली मा اي فصاحه الكلام कल इसके बारे में थोड़ा सा बतलाया था कि बलागत किसको कहते हैं फरमाते हैं कि बलागत फ़िल कलाम मुताबक़तः लिमुकल हाली मा फसाहती ही अई फसाहतिल कलाम यहाँ एक बात ये जहन में आ सकती है आनी तो ना चाहिए कि मुसन्नी फसाहत के अंदर पहले फसाहत मुफरत लाए थे उसके बाद फसाहत फिल कलाम लाए थे यहाँ पर बलागत फिल कलाम को ही शुरू कर दिया बलागत फिल मुफरत कहाँ है आती है जहन में नहीं आती किसी के पीछे जो बयान हुआ था फसाहत का तो फसाहत में सबसे पहले क्या आया था फसाहत मुफरत फिर फसाहत कलाम फिर फसाहत फिल्मतकलम अब यहाँ पर क्या आ रहा है बलागत कलाम बलागत मुफरत तो नहीं आया ये बात पहले आ चुकी है कि बलागत ये मुतसिफ होती है सिर्फ दो के साथ बलागत कलाम और बलागत मुतकलम इसलिए ये बात जहन में नहीं आनी चाहिए तो बलागत फिल कलाम कलाम का मुख्तज हाल के मुताबिक होना मा फसाहती ही अई फसाहतिल कलामी कलाम के फसीह होने के साथ साथ तो यहाँ पर दो चीज़ें ज़रूरी हैं एक तो कलाम मकत हाल के मुताबिक हो दूसरे वो कलाम फसीह हो अगर कलाम फसीह नहीं है मुख्त हाल के मुताबिक हो रहा है तो भी कलाम बलीग नहीं होगा मुख्त हाल के मुताबिक नहीं हो रहा है फसीह है तो बलीग नहीं होगा वो फसी ही होगा तो इसलिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि मुताबकत मुख्त अहवाल भी हो और वो सारे कलिमात वो कलाम जो है फसीह भी हो मुताबकत है मुख्त हाल किस चीज़ को कहते हैं इसका मुख्तसर सी बात मैंने बतलाई थी कि जैसा मौका ऐसी बात जैसा मौका ऐसा कलाम इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं एक होता है हाल एक होता है मुख्त हाल और एक होता है मुताबकत मुख्त हाल हाल जैसे हाल वो अम्र है जो दाई हो दावत देने वाला हो तकाजा करने वाला हो किस बात का इला अन इस बात का यू तबारू इसको बीच में से छोड़कर आखिर में आ जाओ खसूसियत उम्मा पे खसूसियत उम्मा मिल गया इस बात का के एतबार किया जाए किसी खसूसियत का किसी खसूसियत का इसके साथ माल कलामी अल्लदी बिही बिही असलमरादी उस कलाम के साथ जिस कलाम के ज़रिए असल मुराद को अदा किया जाता है जिस कलाम के ज़रिए असल मुराद को अदा किया जा रहा है उस कलाम के साथ किसी खसूसियत के अतबार किया जाए तो यह हाल जो होता है वो इस बात का तकाजा करता है और उस खसूसियत को कहते हैं मुख्तज़ हाल जैसे जैद खड़ा है जैदन कायमन जैद खड़ा है अब एक शख्स है जिसको हम ये खबर दे रहे हैं वो इनकार कर रहा है कि जैद खड़ा नहीं तो जेद खड़ा नहीं है ये जो इनकार कर रहा है ये एक हाल अब इनकार करने वाले के सामने जो कलाम पेश करना चाहिए वो कलाम ऐसा पेश करना चाहिए जिसके अंदर ताकीद हो बात को पुख्ता किया जा रहा हो ताकीद का मतलब बात को पुख्ता किया जा रहा हो तो अब किस तरह कलाम पेश किया जाए ताकीद के साथ तो ताकीद के साथ कलाम का पेश करना ये मुख्तव हाल है यानी हाल का तकाजा है क्योंकि तो हाल क्या है इनकार और ये इनकार जो हाल है ये किस बात का तकाजा कर रहा है इससे इस बात का तकाजा हो रहा है कि मुनकर के सामने कलाम को ताकीद के साथ पेश किया जाए मजबूत और मुक्कद कलाम पेश किया जाए ताकि वो बात को मान लें ठीक है तो हो गया हाल ये हो गया मुफ्तद हाल अब हमने ये काम किया कलाम को ताकीद के साथ पेश कर दिया तो जब कलाम को ताकीद के साथ पेश कर दिया तो अब हाल जो तक कर रहा था हमने उसको पूरा कर दिया तो ये मुख्तज हाल की मुताबकत होगी क्या होगी मुख्तज हाल की मुताबकत हो गई ठीक है अरे आगे समझ में बात इससे ये कहते इसके अलावा एक शख्स है खाली जहन है तो इसका खाली जहन होना ये एक हाल है ये किस बात का तकाजा करता है कि कलाम में हाँ, इसका खाली जहन होना ये एक हाल है ये किस बात का तकाजा करता है कि कलाम को बगैर किसी ताकीद के साथ ले आया जाए है? बगैर किसी ताकीद के कलाम ले आना उसके सामने ये मुख्त हाल की मुताबत है पहली मिसाल वो ज्यादा बात है समझ में आ गई होगी हम्म? अरे आ गई बलागत फिल कलाम कलाम का मुख्त हाल के मुताबिक होना मआ फसाहती उसके फसी होने के साथ साथ यानी फसाहतिल कलामी कलाम के फसी होने के साथ साथ वल हाल वल अमरुदाई और हाल वो ऐसा अम्र है जो दाई हो दावत देने वाला हो तकाजा करने वाला हो इस बात का के उस कलाम के साथ जिसके जरिए असल मुराद को अदा किया जा रहा है खसूसियतुम्मा अतबर खसूसियतुम्मा किसी खसूसियत का एतबार किया जाए ठीक है अच्छा ये जो खसूसियत होगी जैसे यहाँ पर खसूसियत क्या है अरे इनकार करने वाला है उधर इनकार है तब यहाँ खसूसियत क्या कि कलाम को ताकिद के साथ पेश किया जाए और इसको क्या मुख्तर अखबार उसको फरमा रहे वह हुआ मुख्तर वह मुख्तर ही और वो मुख्तर हाल है यू अतबरू तो तबर खसूसियत खसूसियत उसका फाइल होगा अलमस्तरु लाजकरु वला युसा बरिल अल खुनसा मुश्किल चलो मसलन मिसाल देते हैं साल कौन मुखातबी मुनकर लिलहकमी हाल मिसाल के तौर पर समझा रहे देखो कितने अच्छे तरीके से जैसे कोई बाप अपने बेटे को बड़ी प्यार से और मोहब्बत से समझा रहा मुखातब का हुक्म का इनकार करने वाला होना ये एक हाल है तो जो हमारा मुखातब है वो हुक्म का इनकार करता है हमने एक बात कही जेद खड़ा है तो यहाँ पर जेद खड़ा है तो जेद के ऊपर खड़ा होने का एक हुक्म लगा हम्म? और ये जो मुखातब है मुखातब हम जिससे खिताब कर रहे हैं मुखातब मुखा ये इसमें मफूल का सीखा है जिससे खिताब किया जाए तो जिससे हम बात कर रहे हैं वो इस हुक्म का क्या है इनकार करने वाला है क्योंकि जेद खड़ा नहीं है तो ये एक हाल है तक तजी ताकीद अलहुकमी ये हुक्म के मुक्द लाने का ताकीद के साथ लाने का तकाजा करता है व ताकीद मुख्तल हाली और ताकीद जो है ये मुख्तज हाल है यानी हाल जिसका तकाजा कर रहा है वो क्या चीज़ है ताकीद है अब देखो वकाउ लुका लाहू इन्न सईदन फिदारी और तेरा मुखातब से कहना के जैद घर में है बेशक जैद घर में मुक्कदन भी इन्ना इन्ना के साथ ये मुक्कद है इन्ना की ताकीद के साथ लाया गया है कलाम ये ऐसा कलाम है मुताबिकुल मुख्तल हाली जो मुख्त हाल के मुताबिक है अरे ठीक है भाई समझ गए बात ये हुआ हाल मुख्त हाल और मुताबकत मुख्तज हाल की तरह अगर